और उसकी कौम के लोग भी इख्तियार उसकी तरफ दौड़ते हुए आए और वो पहले ही से बुरे काम किया करते थे लूत ने कहा ए मेरी कौम ये मेरी बेटियां हैं ये तुम्हारे लिए ज़्यादा पाकिज़ा हैं चुनाचे तुम अल्लाह ताला से डर जाओ और मेरे मेहमानों में मुझे रसवा ना करो क्या तुम में कोई अक्लमंद आदमी नहीं है